ऐ हमारे रब हमें यहां से निकाल दीजिए फिर अगर हम दोबारा वही काम करें तो बेशक हम जालिम होंगे